बहु घटे जनने वहाँ पर एकांत में भगवान श्री राम जी से मिलने के लिए वशिष्ठ जी पधारे भगवान ने उनका आदर किया वशिष्ठ जी फिर उनसे निवेदन करने लगे कि हम प्रवृत्ति का स्वीकार नहीं करते थे तो ब्रह्मा जी ने हमको समझाया था कि देखो ये कार्य भले ही तुम खराब समझो निंदनी हो लेकिन जिस कार्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है उससे तुमने नहीं कैसे कह सकते हो तुम तो इसके प्रवृत्ति कर्म करो वहाँ पर जाओ अयोध्या में वंश की प्रवृत्त बनो वही तक भगवान राम से परमात्मा उतार लेंगे उनको तुमको दर्शन प्राप्त होगा सान्निध्य प्राप्त होगा और ये जीवन का जो सबसे बड़ा लाभ है वो तुमको वही प्राप्त हो जाएगा तो फिर वशिष्ठ जी को समझ में बात आ गई तो फिर वैसा ही उन्होंने किया तो कहते हैं कि हमने ऋषि को उनकी आज्ञा को तो स्वीकार कर लिया अब बाद में ये कहते हैं वशिष्ठ जी भगवान से कि जो विचार करते रहे वशिष्ठ जी वो बताते हैं कहते सब साधनों का अंतिम फल भगवान की भक्ति है कहते वो अब हमको प्राप्त होनी चाहिए उसी के मानते हैं इसलिए वो अपने विचार व्यक्त करते हैं साधन और साध्य का संबंध क्या है ये देखिए कहते हैं जब तप नियम योग निज धर्मा ये सब साधन है जब है तब है जब से मैंने अनुष्ठान आदि भगवान के नाम मंत्र आदि का जब करना तपस्या है श्री निग्रह मनोनग्रह इत्यादि तपस्या है नियम है ब्रह्मचर्य अहिंसा इत्यादि में ये नियम है और योग मन ध्यान योग इत्यादि है निज धर्म मन अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना है जिसका जो कर्तव्य है वही उसका अपना निज धर्म है वो वो व्यक्ति पालन करे तो ये भी सब साधन है शुद्ध संभावना शुद्ध कर्मा सत्यम और बहुत से पुण्य कार्य बताए गए हैं ये भी करना है वो भी सब जितने भी कर्म उन सबका भी फल अंत में भगवान को भी प्राप्त करना उनकी भक्ति प्राप्त करना है ज्ञान है दया है दम है तीरथ मज्जन है इन सबका जो अंतिम उद्देश्य वही है ज्ञान से परमात्मा का ज्ञान है उसका फल क्या है परमात्मा में प्रीति हो चित्त परमात्मा में ही लगा रहे दया है दम है दया आदि गुण है कृपा करो दया करो तो ये भी पुण्य कार्य है इसका भी फल यही अंतता परमात्मा की प्राप्ति है दम है मन इंद्री निग्रह मनोनिग्रह आदि है उनका संकेत कर दिया तीर्थ मज्जन तीर्थ स्थानों में जाकर के स्नान करना गंगा आदि का स्नान करना ये सब जो है जिसमें मध्यम मन स्थान आदि है ये जहाँ लगे धर्म कहा तक तो सुखी सज्जन सुखियों में जहाँ तक और सज्जनों ने जो सज्जन लोग हैं ज्ञानमान लोग हैं वे लोग जहाँ तक धर्म की चर्चा करते हैं ये भी धर्म है ये भी धर्म है ये भी धर्म है तो वो सब जो धर्म बताए गए हैं उन सब धर्मों का अंतिम फल परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की भक्ति है आगम निगम प्राण का शास्त्र भी बहुत है आगम शास्त्र नारद पांचरात में जो है आगम शास्त्र है आगम शास्त्रों का अपने आप प्रचलन ज्यादा नहीं लेकिन ये आगम शास्त्र जो है वो तुलसीदास जी ने अध्ययन किए उनका नाम लेते रहते हैं शुरू से आखिर तक बार बार और निगम वेद हो गए फिर पुराण हो गए ये सब जितने शास्त्र और भी है ये पढ़े सुने कर फल प्रभु का इन सबके पढ़ने का इन सबके सुनने का एक ही फल है वो फल परमात्मा की प्राप्ति है परमात्मा में प्रीति है पढ़े मैंने गुरु के मुख से शास्त्रों को पढ़े सुने मैंने संतों में बैठ करके सत्संग में बैठ करके इन शास्त्रों को सुने तो ये पढ़ने सुनने के जितने भी शास्त्र निगम आदि है उन सबको जो वो हो एक ही फल है परम संबोधन है भगवान के लिए प्रभु इन सबका अंतिम फल क्या है शास्त्र अध्ययन इत्यादि का वो भी पर आपके परमात्मा की प्राप्ति होना उनमें प्रीति होना ये उसका अंतिम फल है सब पर पंकज की निरंतर वचन का सबका फल क्या दोनों में निरंतर प्रेम बना रहे सब साधन करिए फल सुंदर सब साधनों का सबसे अच्छा फल मिले सुंदर फल मन इससे सुंदर फल कह करके यही लगाते हैं सब साधनों के दूसरे फल भी हो सकते हैं कोई जब तक करे नियम योग आदि करे तो लौकिक फल भी हो सकते हैं इनके सत्य करने से कोई व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन में उसकी विपत्तियाँ मिले रोग दोषास दूर हो शांति आदि से प्राप्त हो ये भी फल बहुत से फल है इसके लिए सब फलों में से सबसे अंतिम फल व्यक्ति का परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा में प्रीति है इसलिए कहा कि ये सुंदर फल है मंदिर में जाना पूजा करना अभिषेक करना और कोई लौकिक कामना रखना और वो कामना की पूर्ति हो जाना ये कोई सुंदर फल थोड़ा भगवान से कोई मानना मान्यता मानना ऐसा भगवान हो जाए ये कर दो तो वो कर दो लोग की कोई कामना करना हो तो उसकी कोई पूर्ति नहीं हो गई तो व्यक्ति कहता है बहुत अच्छा तो भगवान की कृपा से ये प्राप्त हो गया ये प्राप्त हो गया प्राप्त जरूर हो गया लेकिन उत्तम फल ये नहीं बहुत से लोग इस प्रकार कहते हैं भाई हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है हमें ये भी प्राप्त है परिवार भी प्राप्त है पुत्रा भी प्राप्त है भले भी प्राप्त है धन भी प्राप्त है ये भी प्राप्त हो ये भी प्राप्त हमारे ऊपर भगवान की खूब कृपा है तो ये खूब कृपा नहीं है ये छोटी कृपा है साधारण कृपा है और ये सब रहने वाला नहीं है क्यों कम कृपा ऐसी है ये सब ऐसा ही रहने वाला नहीं है अभी लग रहा है सब ऐसा सब है लेकिन सब तो सब बना रहे स्वयं छोड़ करके जाना पड़ेगा ये भी छूट जाएंगे दो तो एक तो में एक होना ही होना है किसके साथ ये सदा रहे हैं कौन इनके साथ सदा रहा है आज तक कहीं इतिहास में इस प्रकार का है सास के साथ अक्षुभ में तो उत्तम फल कहाँ उत्तम फल तो परमात्मा की प्राप्ति उसी की प्रीति है जो प्राप्त हो जाए तो सदा बनी रहे तो कहीं जाने वाली नहीं और परमानंद स्वरूप है भौतिक वस्तुओं उपलब्धियां भी जो काम पदार्थ मिल जाते हैं तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती है सुख लगता है इस परमात्मा की प्राप्ति का आनंद तो अनंत आनंद है असीम आनंद है उसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता तो सदा के लिए प्राप्त हो जाता है ये बात तो प्रसिद्धि के भाव उसमें विद्यमान है इसलिए कहते तो सबसे सुंदर तरीका ये है सब साधन करिए फल सुंदर छोटे मन की मरे के सोए अब देखो एक बात और कहते हैं ये बात यहाँ पर ही आई इस प्रकार की यहाँ तो संकेत मात्र है उदाहरण है कभी कभी उदाहरण के द्वारा ही मुख्य बात कह दी जाती है सूचक मन मन इसे धोए कि जैसे किसी व्यक्ति को पैरों में प्रसाद नहीं करे रास्ते में कीचड़ लग जाए संज्ञा के ऊपर तक अब कीचड़ी ये करके उसको साफ करो तो कीचड़ से कीचड़ कहाँ साफ हो जाती है और कीचड़ को साफ करने के लिए साफ पानी को गलत मुक्त तो पना पानी करके धो देगा अलग कर देगा तो ये नियम जैसे है तो बस इतना ही बोल दिया कि तो देखो छूटे मल की मलई के धोए मन से मल को धो तो वो कौन छूटने वाला है एक छूटे का तो दूसरा लग जाए दूसरा छूटे का तो दूसरा लग जाए लेकिन इस कहने के साथ क्या आज कहीं ये नहीं बताते कि क्या चीज है ऐसे एक दूसरा उदाहरण देते हैं जैसे कि पाओ कोई बारी लोहे पानी को कोई मरे और उसमें से कोई घी निकाल ले उसमें से जैसे मर के घी निकलता है पानी में मिल जाए घी उसमें से पानी में से घी निकलेगा जैसे पानी से घी निकलेगा एक आगे स्थान से ज्यादा दूसरे भी देते हैं कहते हैं कि बालू को पेरने से तेल निकल जाएगा हाँ? वो भी निकलेगा ये दृष्टांत देते हैं ये दृष्टांत बताए अभी नहीं बताते क्या है कहीं अभी अंतर मन कबूल न जाइए जैसे अपने हृदय में अपने अंदर जो मन है वो होने के लिए भगवान की भक्ति चाहिए भगवान का प्रेम चाहिए अगर भगवान का प्रेम नहीं तो मन की मलिनता जाएगी मन में भी बना रहेगा हमारे और लोग इस मलिनता को दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं दूसरे दो उपाय हैं कर्म और ज्ञान उन दोनों का यहाँ खंडन हो गया कर्म से कर्म से बंधन नहीं छूट सकते कोई व्यक्ति चाहे कर्म बंधनों में बंधा हुआ है सिवा से कर्म करता चला रहा है और उसी कर्म के बंधन में जीवन पर चला रहा है तो कर्म के द्वारा ही कर्म के बंधन से छूटने की कोशिश करें तो छूटेगा नहीं करने से ही तो बाधाएं बनी रजोगुण सतोगुणी कर्मगुणी की प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई अब फिर कोई कहे कि हम कर्म करके खड़ा नहीं है बात छुटी जाती दूसरी नई नई वार्ताएं बनती चली जाएगी इसलिए सकाम कर्म व्यक्ति को बंधन में बांधने वाले सकाम कर्म करने से सकाम कर्मों से उत्पन्न हुआ जो मन है वो दूर नहीं हो सकता ये कर्म सुंदर संगीत है टूटई मन की मलई के धोए इसकी तरफ ये जो यहाँ पर संकेत कर दिया गया है स्पष्ट बात कही गई है जो अर्थात रामायण की राम गीता है भगवान राम ने लक्ष्मण जी को जहाँ उपदेश किया है तो पुस्तक अपने यहाँ से छपी हुई है उसमें आप देखो ये बात वहाँ साफ साफ बता दी वही बात यहाँ कहते हैं के धोरे कर्म जन्य जो मन है वो कर्म के द्वारा छूटने वाला नहीं है इसलिए कर्म को तो करो लेकिन निष्काम भाव से कर्म करो और भगवान की भक्ति प्राप्त करने का प्रयास करो ठीक है तो कहते हैं बस इसकी कहते ही हमने तो समझ लिया शास्त्रों को भी देख लिया कैसे भी देख लिया अब समझ में आता है कि केवल भक्ति ही हो तभी जो ये सब चित्त शुद्ध हो निर्मलता हो और अपने अभियंतर मन को छोड़ छोड़ाने की जरूरत क्या है, है? मन तो बना रहे वो जो मन जब तक रहेगा तब तक दुख रहेंगे अशांति रहेगी जीवन की जितनी भी अशांतियां दुख है तब तक दूर नहीं होंगे कामना काम क्रोध लोभ मोह ये कमल भी है ये कलिमल है कलिमल माने कई कुमल है कई उसमें हो जाते हैं सब कुछ नहीं होते सत्य में लोगों के हृदय सत्ता रहते हैं उनमें ये सब नहीं होते लेकिन कलयुग आया तो बस तब तो उसमें सब ये मलाव है राग देश काम लोभ मोह मद मत्सर निंदा देश अल्पवंता निंदा में दूसरी दिखाई दे ऐसी करके दूसरी सब जगह दिखाई दे ऐसी बुद्धि है बनी बुद्धि के कारण से होता है अपने आप ही जो है वो द्रवों से प्रिय हो जो गलतियां है दोष है उन्हीं को अच्छा करके माने यदि उसके मन के कारण से मानसिक मन इस प्रकार की बुद्धि मची होगी तो उसे अपने दुर्गुण अच्छे लगेंगे और दूसरे के गुणों में भी दुर्गुण दिखाई देगा ये सब मानसिक विकास हाँ, ये सब मेंटल प्रॉब्लम है समाज में होती रहती है ये समाज का प्रॉब्लम कैसे सहाल हो तो कैसे भगवान की भक्ति आवे तो सफाई होगी शुद्धता हो दूर हो तो कहते हैं कि कई मन की मन के हुए ऐसा मनों का मूल कारण जो है अहंकार है अहम जो है अविद्या से उत्पन्न हुआ हम वो अहम जो है वो अपने के दोष अपने दोष जो है उनको निपुण करके बताता है और दूसरे के गुण को भी दोष करके बताता है उल्टी बुद्धि अहंकार ये कहते हैं सबका सबके जितने भी मानसिक मल है वो सब अहंकार के कारण जैसे भगवान में प्रीति न हो इसके मैंने जो अहम में प्रीति है उसके स्थान में परमात्मा में प्रीति होनी चाहिए और जब तक अहम में प्रीति रहेगी तब तक चाहे जितने कर्म करो और चाहे जितना ज्ञान करो वो मन दूर होने वाले जिनका तो अहंकार हुआ है अब कहाँ से राजदी का अधिकार छूटे जाते हैं अंग्रोध का अधिकार छूटे जाते हैं वो जब रहेगा तब तो ये अधिकार रहेंगे ही रहेंगे जब अहंकार से तादाद में छूटे जैसे हम में व्यक्ति को अहम होता है वो तो रहे तो कुछ हर्ज नहीं है लेकिन अहम में व्यक्ति को अत्यधिक होती है आत्मा को छोड़कर के अनात्मा में की धीरे धीरे होती है अपने अधिकार में भी कुछ होती है और अहंकार की चीज के कारण फिर शरीर में भी प्रीत हो जाती है प्राण में भी हो जाती है फिर उससे संबंध रखने वाली अन्य वस्तुएं व्यक्तियों में उनमें भी प्रीति हो जाती है लेकिन सबकी मूल जो जड़ जहाँ से गलती हो गई वो तो वहीं से हो गई अहंकार में प्रीति हो उसको देखे शास्त्र तो बताए नहीं लेकिन उसको अपने अंदर से दिख जाए अहंकार है उसमें हमें प्रीति है ये समझ में आना बहुत मुश्किल बात है साधारण नहीं अपने व्यक्ति कह रहे हैं अहंकार ही कहा अहंकार होते हुए भी अहंकार दिखाई देती जब अहंकार से साधारण किए बैठे हुए हैं तो कैसे दिखाई देते अहंकार वो अपने अहम को ही परमात्मा समझे हुए वही आत्मा समझे हुए ही तो आत्मा है अहंकार ही तो आत्मा है यही तो परमात्मा है तो फिर कहाँ से अहंकार को समझ में आ जाएगा हम में और परमात्मा ने अहम जो है वैसे वैश्विक अहम है और आत्मा परमात्मा सर्वात्मा इतना तो अंतर है ही कम से कम समझे तो, तो सर्वात्म भाव है क्या हाँ? नहीं है तो अहंकार बना बनाया सबने सब में दिखाई दे और सबने में है सब अपने विरोधी दिखाई देते हैं तो वहां से आत्मभाव आत्मभाव जो वो हो सर्वात्म भाव करुणा अहंकार जो है इसका अहंकार इसलिए बस यही से अंतर हो जाता है क्यों जरूरत कर्म से कर्म से कर्म की नहीं हो सकती कर्म से शुद्धता क्यों नहीं हो सकती क्योंकि कर्म से कोई अहंकार दूर खड़ा हो जाता है कोई कितने कर्म करे तो बहुत बात ऐसे बहुत अधिक कार्य करने वाले व्यक्ति उनकी बुद्धि उपलब्धियां बहुत हो जाती है और उनके अहंकार के साथ में उनका अनुमान भी बढ़ जाता है तो घर छोड़े जाता है अहंकार कर्म करने से किसका अहंकार कर दिया भी किया और किसी ने किसी बहुत काम किया बहुत काम किया इतना काम किया कि तो हंगा कर दिया काम कर दिया ये तो पहले से ये छोटे हिम्मत की मलई से धोए ये जो कर्म के संबंध में हो गया और घट की पाव को बाल दिलोए बाल दिलोए ज्ञान है एक प्रकार का मंथन चिंतन है हाँ। हृदय मंथन और निकाल करके वहां से परमात्मा को निकालो आत्मा को निकालो मंथन श्री है इस प्रकार से सिद्ध शंकराचार्य की आदि और आदि कहते हैं जिसे अन्य मंथन किया जाता है ऐसे मंथन करो शिक्षा मंथन करो अपना हृदय मंथन करो अपने हृदय में जाकर के विचार करो जैसे अन्य व्यक्ति या है लो तो उसमें अपने हृदय में ही परमात्मा प्रकट होगा लेकिन हृदय हो और उसमें आप मंथन करो तो परमात्मा प्रकट भी हो अगर आप चाहो कि अपने मन का मंथन करें और उसी में से परमात्मा निकल आ गए तो कहां से निकल आ गए यही पता चलता है हम मंथन कर रहे हैं तो अपने मन का कर रहे हैं कि अपने हृदय का कर रहे हैं हृदय स्तुति कहती है हृदय हृदय हृदय आत्मा अरे वो तो हृदय से वो जहाँ आत्मा है उसका मंथन करोगे कोई जहाँ पर सीमाएं है हाँ, जहाँ पर संकल्प विकल्प है उन संकल्प विकल्पों पर कितने मंथन करते हैं उसमें क्या हो जाएगा उसमें तो संसार में ये भला हो बुरा ये अच्छा हो बुरा ये नहीं हो वो नहीं हो इस प्रकार में प्रपंच में मन खड़ा करने वाला है उसका मंथन कितनी करो उसमें से क्या निकलने वाला है प्रपंच में से मंथन करके कुछ नहीं बहुत बार जब सिद्धांत का श्रवण करते हैं सुनते हैं तो लोगों को मालूम है कि परम परमात्मा है परमात्मा की माया है माया की जगत है हाँ? तो परमात्मा की तरफ से विचार नहीं करते ये सोचते हैं माया क्या है माया कहाँ से आई कैसी है माया की जगत कैसे बना ये जगत माया में कैसे है माया तो मिथ्या है और ये जगत तो दिखाई देता है ये तो सत्य है ये मिथ्या है अब जितने प्रश्न उनके हैं वो सब माया है माया क्या है जगत क्या है माया क्या है तो माया जगत कैसे बन गया बन गया तो दिखाई कर देता है और ये बन तो रोज दिखाई देता है इसका बना हुआ है ये माया कैसे है ये माया कैसे है हाँ। अब इस माया का कितना ही मंथन करो इसमें से कोई परमात्मा निकलने वाला नहीं दर्शन कर रहे बहुत सारे प्रकार के कहते हैं जैसे परमात्मा शब्द के कैसे विद्यमान है जैसे दूध में घी हो सब दूध में सब जगह फैला हुआ है तो उसमें घी उसमें दूध में घी होती है तो कहीं घी दिखाई तो नहीं देता कहीं नहीं दिखाई देता आप दूध को जमा हो मत हो फिर तो उसमें से देखो मक्खन निकालो गर्म करो देखो घी नहीं है घी निकलेगा ये तो बात ठीक है कि जब दूध होगा तो, तो उसमें से घी निकलेगा इसको दूध की जगह में आपने दे दिया पानी अब उसको लोग मतने लगो तो जमा दो और मतने लगो तो उसमें से क्या निकलने वाला ये ये जो है परमात्मा दूध में है घी में थोड़ा घी तो जो है वो दूध में है कोई पानी में थोड़ा है ऐसे ही परमात्मा जहाँ है कहाँ है वही मंथन करो हृदय में मंथन करो अपने संस्कार बुद्धि बुद्धि से आगे निकल करके हृदय तक पहुंचो सूक्ष्म सूक्ष्म हृदय और आत्मा बिल्कुल बिल्कुल पास पास बुद्धि बहुत दूर है मन उससे भी ज्यादा दूर है इंद्रिया और दूर है सही बहुत दूर है आप परमात्मा और आत्मा के लेकर हृदय पहले हृदय तक पहुंचे फिर हृदय में पहुंच करके परमात्मा का मंथन करके तो मिलेगी तो हृदय जो है समस्त सात्विक गुणों का भंडार है और प्रेम का वासस्थल अब हृदय में पहुंच गए तो वहां प्रेम ही प्रेम मिले वो प्रश्न जब हृदय में होगा तो भक्ति आ जाएगी जब हृदय में पहुंच जाएंगे तो, तो परमात्मा का ज्ञान भी होगा परमात्मा की भक्ति भी होगी लेकिन हृदय तक नहीं पहुंचते तो न परमात्मा का प्रेम है न परमात्मा का ज्ञान है इसलिए प्रेम और भगत जन बिना रघुराई बिना प्रेमी की जल अपने हृदय को धोए हृदय का मन आंतरिक मन शुरू नहीं होता प्रेम और भगत जल अनुवाय हृदय को सबसे करना है तो इसी से दूर होगा महाभारत में एक श्लोक आता है पांडवों को एक किसी ने उपदेश दिया पांडव लोग में घूम रहे थे वो इस महात्मा जी उनको मिले ऋषि वन में तो उनसे कहा बल तो क्या बतावे बनवास हो गया हमको स्नान अपने क्षेत्र रोज गंगा स्नान करते थे अब जैसे बनवास हो गया तब से जो है गंगा जी के दर्शन ही मुश्किल है तो स्नान नहीं होता तो उन्होंने कहा जब नहीं होता तो नहीं होता छोड़ उस बात को अब अपने भीतर देखो गंगा जी अपने भीतर भी तो है आत्मा नदी संयम होने के लिए कहा सत्योद कहा शील कहा तयोर गुरु पांडव न बाजना शुद्धति शांतरात्मा न बाजना शुद्धति शांतरात्मा पानी से अपना चाहो के अंताकरण शुद्ध कर ले तो पानी से थोड़े होगा नहा लो तो सही शुद्ध हो जाए तो अंताकरण का शुद्ध हो जाए अंताकरण शुद्ध करने के लिए भक्ति चाहिए भगवान का प्रेम चाहिए सब लोग ऊपर ऊपर से किसकी सफाई करते रहो भीतर भीतर मन में कितना हुआ खड़ा बड़ा मन भरा हुआ बस वो का रहता है परेशान करता रहता है तो उसके लिए तो दूसरे ही स्नान की आवश्यकता है तो कृष्ण भगत जी ने बिना रघुराई अभी अंतर्मन प्रभु की जाई सोई सर्वज्ञ सज्ज सोई पंडित चरण जिसको भगवान की करों में पीठ हो गई वही कोई है वो सोई सर्वज्ञ है वही सर्वज्ञ है सत्य है वही तत्व सत्य मन तत्व का ज्ञाता है सोई पंडित वही विद्वान है आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी है और सोई गुण है बोध भी उसी गति में है और विज्ञान अखंडित उसी का विज्ञान अखंडित है मैंने अखंड विज्ञानवान है मैंने सदा ही परमात्मा में कौन सबसे बड़ा ज्ञान कौन जिसका विशेष तो परमात्मा में सदा लगा रहे उससे बड़ा कोई विद्या ज्ञान के मैंने परमात्मा का परोक्ष ज्ञान ज्ञान मैंने अपरोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान में मैंने आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान हो गया दर्शन उसके हो गए उसी आत्मा के आनंद में मग्न है तो चित्र उसी आनंद में परमात्मा के आत्मा के आनंद में चित्र निरंतर मग्न रहे उसी का नाम भक्ति है ज्ञान है संयुक्त और दस सकल लक्षण जो सोई वही व्यक्ति दक्ष है समन्वय के साथ जैसे लक्षण बता दिए संतों के लक्षण क्या है तो उसमें से एक लक्षण उसका दक्ष है संत दक्ष है दक्ष के मैंने कुशल ऐसी सेव जीवन में होती है परफेक्शन होता है लेकिन सबसे बड़ा परफेक्शन क्या है जो व्यक्ति अपने जीवन को संभाल करके बैलेंस बना करके सब तरह से संभाल संभाल करके अपने अंतर में प्रवेश करके आत्मभाव में परमात्म भाव में स्थित हो जाए ये काम संभाल ले जाए तो इससे ज्यादा परफेक्शन किसी में नहीं बाकी सब अलग फिर उनमें सब में उनके सब में कहीं कहीं गलती हो गई और उसमें सफलता नहीं प्राप्त किए जैसे कोई कार्य बड़ी कुशलता से कोई कार्य करता तो कार्य संपन्न हो जाता पूरा हो जाता ठीक हो जाता कुशलता नहीं हुई तो काम बिगड़ जाता बीच में अधूरा रह जाता है ऐसे जीवन का सबसे बड़ा काम आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान और चित्तता उसी परमात्मा में स्थित रहना ये सबसे बड़ा काम जो यहाँ तक कोई साथ ले जाए कर तो उससे ज्यादा होशियार कोई व्यक्ति नहीं उससे ज्यादा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं बस वही सब शब्द है और ये नहीं कर पाया तो बस क्या कर सका लक्ष्य सकल लक्षण जब कोई तो समस्त लक्षण सदगुण की संभव सीखे हैं मैंने और भी कोई बड़ा विद्वान है साधु विमान है ज्ञानमान है समझदार है साधनम है तमाम दुनिया भर के गुण होते बहुत से व्यक्तियों में होते हैं कि वो सब गुण इसी व्यक्ति में माने जाएंगे जो ये काम संपन्न कर ले परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर ले और परमात्मा अपने चित्त को लगा ले परमात्मा की भक्ति प्राप्त कर ले प्रेम प्राप्त कर ले तो सब गुण उसमें नहीं तो उसके गुण क्या सब दो गुण तभी तो गुण गुण है जब गुण काम आ इसलिए कि जाके पर सरोज रति हुई जिसके हृदय में भगवान की चरणों की प्रीति हो गई बस कहते वही उसी की सब सफलता का प्रकाश है मैंने जीवन का सबसे अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति उसके आनंद की प्राप्ति चित्त का उसी में लगे रहना इसलिए बार बार इसी प्रकार से आता है परमात्मा को अपने हृदय में साक्षी को जाने आत्मा को जाने और अपने चित्र को उसी आत्मा में परमात्मा में निरंतर लगाए रखें छूटे नहीं निरंतर लगाए रखने के माने ये नहीं कि और कुछ काम न करें और समाज में बैठे हैं अपने चित्र को लगाए ये तात्पर्य नहीं है तात्पर्य कभी कभी लगाते हैं जैसे गीता में आता भगवान बार बार कहते रहते हैं कि मेरा जो निरंतर स्नान करता है अनन्या चिंतन अत्यंत माम हे जना परि अनन्या चिंतन तो अन्य भाव से मेरा ये चिंतन करते तो लोग बात डर जाते हैं इसमें कहता भगवान का चिंतन करने में लग गए दिन रात वही करते हैं दुनिया कुछ कर ही नहीं पाएंगे सत्ता में बंद ये उसका अनर्थ अर्थ नहीं है अनर्थ